फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दे दी फिर उस जमे हुए खून को एक लोथड़ा बना दिया फिर उस लोथड़े को हड्डियों में तब्दील कर दिया फिर हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया फिर उसे ऐसी उठान दी कि वो एक दूसरी ही मखलूक बनकर खड़ा हो गया गरज बड़ी शान है अल्लाह की जो सारे कारीगरों से बढ़कर कारीगर है